लोकी सुतहि समुती मनहु जरे पर लोनु लो लगावती सोचय सोच बिहे सुप्रीत जनु के उभो सकल पाए अन्तरपति सदन सिधाय असुमानि सोचि परिहर सहित समाज करहु पुत्र को व्याकुल देखकर कई समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो वह बोली हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो सुनी सुखि सह में राजकुमारो पाके छत जनु लागयगारू धीरज धरी भरी ले उषा पापी निसबही भाति कुरुचे जैरुचे तो तोहि जनमत काहे न मारे मोहि पिण काटित मीन दीन नीति बारे उलीचा राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला हंस बंसु दशरथ जनम हंस बंस दशरथ जनको राम लखन ते भाई जननी तो जननी भये विदिशन कछु न बसाए मुझे सा वंश दशरथ जी शरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई क्या किया जाए विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता जब तय कुमति कुमत खंड खंड हो हृदऊ न बर मांगत मन भय नहीं पीरा गरी न मुह मोह परे न कीरा भोपप्रतीति मि मरणकाल विधि मति नारी हृदय गति जानि सकल कपटयघ अवगुण अरे कुमति जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई तेरी जीभ गल नहीं गई तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके वह संपूर्ण कपट पाप और अगुणों की खान है सरल सुशील धर्म रत राव सो मिजानय तेय सुभाऊ अस को जीव जंतु जग माही यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही बेयति यहित राम ते तो ही को तू अहसी सत्य कहु मोही जो हसी सो हसी मुहम सिलाई आखी वो उठी बैठ जाए फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए वैरी लगे तू कौन है मुझे सच सच कह तू जो है सो है अब मुंह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्ह विधि मोह मोह समान को पात के बाद कहूँ कछ तो ही विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ